कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था पीछे हटता था अंधकार आगे प्रकाश दिखलाता था सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था जंगल के लिए उजेरा था महलों के लिए अंधेरा था प्रकृति नदी में जब बहा रथ वह नाव समान नैनों से तब लखन के बरसा मेघमान नव के तारे थे ज्योतिरहीन चंद्रमा उदास हो रहा था कण नहीं ओ सके गिरते थे पृथ्वी पर व्योम रो रहा था दूसरी ही ओ दूसरी ओर लालिमा दिए सूरज रुक रुक कर उगता था उन मोते जैसे बूंदों को अतिशीघ्र हंस सम चुगता था जब उज्जल हुआ गगन मंडल तब नाचे डाली हिम हिलमिल कर अवलोक प्रकृति का यह रहस्य सब कली हंस पड़ी खिलखिला कर पुष्पों के दल वृक्षों के तल रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे उसे समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर नहाए श्रद्धा के सहित विनती के कर जोर हाँक दिया फिर रथ तुरंत सघन बनों की ओर कहने को वन बेहड़ थाम पर पावन पथ गंगा का था मुनि बाल्मीक के आश्रम को वही पथ शीघ्र पहुँचता था पथ भी कह सकते नहीं उसे कि करबेरी का जंगल था आगे तो प्रकृति जानती थी जो उसके आगे मंगल था ऊंचे नीचे खड्गे जग्गे उन्नति औन्नति दिखलाते थे रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे धरती उबड़ खाबड़ तो थी पर रथ को मार्ग दे रही थी माँ जैसे बच्चे को लेती त्यों ही वह गोद ले रही थी चलती तो थी अत्याधिक वायु पर शीतल सुखकारी लगती गर्जन बन ही सिंघनियों में थी पर कोयल सी प्यारी लगती मानो बन्नर से शासन लेन नारी को दिया चाहता है या सीता को पटरानी से बनरानी किया चाहता है उसी विपिन में लकन ने बाग डोर ली थाम रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम रो उठे शिशुवत तुरंत वही अस्त्र के धार इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विचार हे रघुश्रेष्ठ हे छोटे राजा क्यों रोते हो क्यों चिल्लाते क्यों अकुलाते हो हे रघुकुल के छोटे राजा क्यों रोते हो क्यों चिल्लाते क्यों अकुलाते हो अपने छत्राणे भावज में क्यों करुणारस उपजाते हो छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं घननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं इसलिए धीरता धारण कर तब छुपा वेद खोलो लक्षण क्या सोच रहे क्या देख रहे क्या चिंता है बोलो लखन माता के यह वाक्य सुन रुका न कानीर तब लक्ष्मण कहने लगे धारण करे कुछ धीर अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाढ़ से मैं या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं यह दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ मैं अपने मन मंदिर की माँ पर कुछ मैं आघात कर रहा हूँ कहने में थर राते जीवान चुप रहने में दम घुटता है वह उदासीन ऋणिया हो मैं जो भीतर भीतर लूटता है आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझे हत भागी के यह अत्याचार धर्म का है जो सिर पर है अनुरागी के बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुबीर धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर निकले सिंहनी गुफा से जो अपने शिशु का रोदन सुनकर रथ से उतरे तो श्यामात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर बोले भाई के आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है उनकी भद्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग में हित कर हैं सूरज वंश राजेश्वर है रघुकुल के गौरव रघुबर है वे छा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है गज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है इन शब्दों से जब खींची सकुचाहट की फांस तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस हे माम साक्षात रमा हो तुम मन मंदिर के प्रतिमा हो तुम महिमा हो तुम सुखमा हो तुम अरिमा हो तुम गरिमा हो तुम लंका में डंका बजा दिया पर अवध बध किया देता है वह वास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित दिखाया है पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है वे कहते हैं परवसता में जब प्राण गवा देती माता तो सच्चे पति बताओ की पदवी को ती माता वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गवा देते माता तो सच्चे पति व्रताओं की पदवी को पालती माता यह नहीं समझते मूर्ख प्रजा आचार्य परीक्षा दी तुमने पति के हित निज प्राणों को रख पति की ही भी पत रखी तुमने है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन तब बोली अवधेश्वरी सीधे सीधे बहन